वहां उन्हें हमेशा हमेशा बसते हुए हर वो चीज मिलेगी जो वो चाहेंगे ये वो जिम्मेदाराना वादा है जो तुम्हारे रब ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है